कहाव का अब स्वामि कृपायं गुनिधि गुरुप्रसन्न सा हिबयनुकूला मलेन मन कलपित सूला अपडर डरे उन सोच समोले रबहीन दोषु देव दिश भूले भाई गो मातु कुटिलाए विधि गति विषम काल कठिनाए हे स्वामी हे कृपा के समुद्र हे अंतर्यामी अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई मैं मिथ्या डर से ही डर गया था मेरे सोच की जड़ ही न थी दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता पाउरोपि सब मिली मोहि घाला पाल आपन पाल यह नहीं रीति न राउर होए लोक हुबेद विदित नहि गोये जगुवन भल भल एको कहिय हो ये भल कासु भलाय तरु सरिस सुभाव सनमुख विमुखन काहू ही इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाहा मुझे बचा लिया यह आपकी कोई नई रीति नहीं है यह लोग और वेदों में प्रकट है छिपी नहीं है सारा जगत बुरा करने वाला हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल जाय निकट पहचान तरुण साहस मने सब सोच मांगत अभिमत पाव जग रंग कभल पोच उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं लखी सब विधि गुर स्वामी सने मिट्यु भु नहीं मन संदेह अब करुणा कर कीजिए सोए जनहित प्रभुचित जो शोभुनो दोसेवकसा बहिसकोचि निज निजहित चहिय तासुमति पोची सेवक करय सकल सुख लोभ बिहाय गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे स्वारथुनाथ फिरे सब ही काम किए रजाए कोट विधिने का यह स्वारथ पर मारथ सारो सकल फल सुगति देवय बिन ते सुन मोरी उचित हो तस बहोरी तिलक समाज साज सबुआना करिय सुफल प्रभु जो मनुमानाम हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है हे देव आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए उसका उपयोग कीजिए सानुज बन सब सनाथ न तरु फेर यही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ